अब कारिका उनचासवीं कारिका शुरू हो रही है इसके पहले उन्होंने विशेष और अविशेष के पहले सामान्य भेद बताए फिर उनके विशेष आवांतर भेद कितने हैं तो उन्होंने कहा तामिश के अष्टदशदा अंधतामिश के अष्टदशदा है इन्हीं को अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश कहा जाता है ये बात बताई अब तदेव पंच विपर्य भेदान उक्वा अभी तक पंच विपर्य के जो भेद थे पंच वही का संप्रति पंचानाम विपर्य भेदानाम आवांतर भेद कहा भेदा जो पांच विपर्य कौन है तो यहाँ पर है तम मोह महामोह तामिश और अंधतामिश और उसी को युग में कहते हैं अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इन पांच विपर्य के अज्ञान के भेद को कहने के बाद अबता अष्टाविंशति भेदाम असक्तिम आहा उन्होंने कहा था विपर्या असक्त शक्ति तुष्ट सिद्ध्याख्या इस प्रत्यय सर्ग विपर्या असक्ति तुष्ट सिद्ध्याख्या तो विपर्य के तो उन्होंने पांच वेद बता दिए उसके फिर आवांतर वेद बता दिए कितने षष्टी हो जाते हैं कितना हो जा रहा था द्विष्टी हो गए थे माने बासठ हो गए थे अब बताने जा रहे हैं अशक्ति के भेद बताने जा रहे हैं अष्टाविंशति भेदाम असक्तिम आह अष्टा अष्टाविंशति मैंने अट्ठाईस भेद वाला असक्ति है एकादशेन्द्री बधा सा बुद्धि अशक्ति असक्तिरुद्दिष्टा सप्तश बधा बुद्धेर विपर्यात तुष्ट सिद्धि नाम तो सबसे पहले कहने जा रहा है ग्यारह जो इंद्री है हमारी माने एक श्रोत्र इंद्री है एक चक्षुर इंद्री है घ्राण है जीवा है रसना है पाद है पानी पाय उपस्थ इस प्रकार के दस वाय इंद्री और मन अंत इंद्री इस प्रकार से एकादश इंद्री का जो बध नुका बध का है कान का बध का है बधिरपन हो जाना और त्वक का बध है कि कुछ समझ में नहीं आना शून्य हो जाती है उसी नेत्र का अंधत्व हो जाना रसना में है ऐसा कुछ लग जाता कि स्वाद पता नहीं चलता है ऐसे सब के सब घाण में नहीं पर बाघ का मुक्ता हो गई हाथ इधर उधर हो गया कोई अपंगूपन आ गया क्लीब नपुंसकता आ गई ये सब क्या सब क्या है पायु के दोष हैं वही लिखने जा रहे हैं इसलिए एकादशेंद्री बधा कथम बताने जा सा बुद्ध बधई सा असक्तिर उद्दिष्टा कथित मैंने बुद्ध बध के साथ मैंने बुद्ध के वध का तात्पर्य जो बुद्ध के जो धर्म ज्ञान वैराग ईश्वर आदि उनके ना होने के कारण उसका बध हो गया इसलिए कहा बुद्ध बधई साह एकादश इंद्री बधा असक्ति ही उद्दिष्टा एकादश इंद्री बध का नाम है असक्ति कहलाएगा सप्तदश जो सत्रह उसके लिए बधा बुद्धे है कैसे हो गए तो तुष्ट सिद्धि नाम विपर्यात मैंने आठ तुष्टि नव सिद्धि है तो कितने हो गए आठ नौ सत्रह इसलिए कह रहा है तुष्ट सिद्धि नाम विपर्यात तुष्टि और सिद्धि के विपर्य होने से बुद्ध के कितने पद हो गए सप्त दस माने सत्रह और ग्यारह कितना हो गए हमारा अट्ठाईस हो गए सत्रह दस सत्ताईस इकट्ठाईस इसलिए अष्टादश हो गए विपर्या तुष्ट सिद्धि नाम एकादश इति इंद्रिय बदस्य ग्रहो बुद्धि हेतुत्व क्योंकि इंद्रिय बद का ज्ञान कैसे होगा बुद्धि के ज्ञान के अधीन है इसलिए उसको उन्होंने कह दिया एकादश इंद्रिय बदा क्या क्या है तो श्लोक गिना रहे हैं बाधर्यम बाधर्य अपने किसका है तो सोत्र का दोष है और कुष्ठिता कुष्ठ रोग हो जाना या क्या त्वक का दोष है दूसरा क्या देना अंधत्व नेत्र का दोष है जड़ता रसना का दोष है और जीवा में जय रूप माने एन अस्वाद माने जिसके कारण वह स्वाद नहीं ले पा रही इसी का नाम केवल जड़ता है और अजघ्रता जो घाण का दोष है तथा मुकता वाणी का दोष बाघ दोष है कौन या कुणित्वम कुणी भावा हस्तदोष मतलब कुछ हाथ टूट टाट जाना ये किसका है हमारा हाँ कौन माने हाथ का दोष है पंगुत किसका है पैर का दोष है क्लीवत मैंने प्रजनन इंद्री का दोष है नपुंसुकता हो जाना और उदावर्त कोई रोग विशेष है जो गुदा में होता है वो किसका दोष है पायु का दोष है यथा संक मनुदेशा समान क्रम से जुड़ना है दस दस ग्यारह दस इंद्रिय है उन दस इंद्रियों को इस प्रकार से बताना है और मंदता किसका दोष है मन का जो विवेक का नहीं कर रहा मन का दोष क्या है मंदता मंदता मन का देश है वही कहने जा रहा है अतः यथा इस नाम इंद्रिया बधा ये आदि इंद्रियों के यह एकादश बध हो गए अब बताने जा रहे हैं इनका ये बद है इनके कारण क्यों आते हैं ये तो अशक्ति के कारण ये सब आते हैं कान में असामर्थ शून्य में हो जाता है या रूप ग्रहण शक्ति से क्षीण हो जाता है तो क्या हो जाता है अंधा हो जाता है इसलिए बता रहे हेतु हेतु मत में अभेद विवक्षा कर दिया अतः हेतु मत्या बध निमित्त वत्या असक्त्या इस बध के निमित्त है असक्ति इसलिए अशक्ति को भी कितना कह दिया हम लोगों ने अट्ठाईस जबकि असक्ति से जाय माने ये दोष है कौन से दोष है अट्ठा अट्ठाईस दोष है माने एकादश इंद्री जो बद है जब उसमें स्त्रोत्र अपना काम करना बंद करेगा तब बधिर आएगा तो जब शक्ति से शून्य होगा तो बधिर इसका मतलब बधिरापन अलग चीज है और शक्ति अलग है फिर भी उन दोनों का शक्ति के अभाव से वो दोष आते हैं इसलिए अभेद व्याख्या करके उनको क्या कह दिया गया असक्ति ही कह दिया गया है वही लेकिन एतावत्तेव तद हेतु का माना जो एतावती इतना लगना मान एतावती जो शक्ति है सा तद हेतु का मन इन दोषों का हेतु होने के कारण बुद्धे असक्ति ही मान जो बुद्ध की सी को बोलते हैं असक्ति ही अशक्ति क्या है स्व व्यापार में मान अध्यवसाय करने में वो समर्थ नहीं हो पाती इंद्रिय इंद्री है विषयों को भेजते हैं जब इंद्री मन को दे मन अहंकार को अहंकार बुद्धि को दे तब ना विचार कर पाएंगे इसलिए क्या हुआ अर्थात ये बुद्धि के पद यही भी कहलाते हैं इसी असक्त्या मन असक्ति के कारण हो रहे हैं वही कह रहे इति बुद्धेर असक्ति रुचते हेतु हेतु मतो हेतु हो गया हमारा आसक्ति हेतुमान होगा दोष इन दोनों की अवक्षा कह करके यहाँ लिख दिया एकादश इंद्रिय बधा अशक्ति उद्दिष्टा प्रथमा प्रथमा विभक्ति कर दी जबकि क्या असक्ति से जायमान यह एकादश बध है और असक्ति अलग चीज है वही कहने जा रहा स्वाभ्या एतावत तद्धेतु का बुद्धेर अशक्ति स्व्यापारे भवती तथा च एकादश हेतु मन एकादश का ये हेतु का कौन है असक्ति है अतः एकादश किसको कह देते हैं बुद्धि के अशक्ति का नाम हो गया क्यों हेतु कौन हुआ असक्ति हेतुमान कौन होगा ये बद उन दोनों में अभेद विवक्षा कर दी क्या कर दी अभेद विवक्षा करके दोनों के एक मान करके बुद्धि को कहा गया बुद्धि के असक्ति के ये भेद बताए गए हैं तदेवम इंद्रिय बध द्वारेण जब इंद्रिय का बध हो जाएगा तो बुद्धि काम नहीं कर पाएगी इसलिए बुद्धि का नाम हो गया अशक्ति वही का क्रम से इंद्रिय बध द्वारेण मान इंद्रियों के द्वस के माध्यम से बुद्धि विवेक करने से शून्य हो जाती है इसलिए कहा जाता बुद्धि असक्ति ही बुद्धि क्या है सामर्थ्य विचार करने में समर्थ नहीं हो रही है क्योंकि जो विचार जिसके माध्यम से विषय जाते हैं उनका दोष हो चुका है उनका बद हो चुका है वही एकादश इंद्री पद द्वारेण बुद्धि अशक्तिम उक्तवा मन बुद्धि के असक्ति को कह करके स्वरूपता असक्ति ही अब यह हो गया किसके निमित्त हुई थी तो एकादश दोषों के कारण विचार शक्ति सुन हुआ था ये बात कह करके अब स्वरूपता अशक्ति ही असक्ति ये बहुवचन का रूप है द्वितीय के असक्ति ही आह मन स्वरूपता मन सप्त दस बुद्धि की ये स्वरूपता शक्ति है अर्थात उसी बुद्धि में रहता है ये तो इंद्रियों के वध के कारण बुद्धि में आसक्ति आई है और कुछ चीजें वहीं उत्पन्न होने वैसे विवेक ना होना वैराग्य ना होना ये किसका धर्म है सब बुद्धि का इसलिए वो सप्त दस बुद्धि कुतः विपर्यात तुष्ट सिद्धि नाम तो के भी पर्याय से बुद्धि में बुद्धि का पद हो जाता है तो कह रहे हैं तुष्टि और सिद्धियों का विपर्य है तुष्टि आठ है और नौ है सिद्धि आगे सब गिनाने वाले हैं तुष्टया नवधेती तद विपर्यास तन निरूपणात तद नवधा माने यदि तुष्टि नव है तो उसके तुष्टि के अभाव कितने होंगे नव होंगे तुष्टि नव है हमारी तो उसके अभाव कितने होंगे नव होंगे तो आगे लिखेंगे अभी यहाँ पर के तुष्टि कौन कौन सी है ऊहा शब्दनम दुख विघाता श्रया सुरत प्राप्ति दानम ये आठ सिद्धि हैं और तुष्टि बताएगा आध्यात्मिक क्या चतसरा प्रकृत उपादान काल भागाख्या ये चार हो गई आध्यात्मिक तुष्टि और पांच हो गई बाय तुष्टि इस प्रकार नव तुष्टि हैं उन सबका यहाँ क्या होने वाला है अभाव होने वाला है वही कहने जा रहे हैं इति नव तुष्टया उनका अता विपर्यात तुष्टि सिद्धि नाम तुष्टयो नवधा उनका विपर्य भी नौ प्रकार का अभाव भी होगा अर्थात पहला हो गया हमारा जो तुष्टि थी कौन सी कि यह एक तुष्टि है पहले तुष्टि है हमारी अध्यात्म प्रकृति दूसरा तुष्टि क्या है उपादान तीसरा क्या है काल चौथा क्या है भाग्य भाग्य का भाव हो गया अभाग काल का भाव हो गया जो किसी अनिश्चित हो जाना और उपादान में ग्रहण करना उसका भाव होगा उपादान का भाव प्रकृति का भाव होगा विकृति यही सब कहना चाह रहे हैं और बाय विषय होते हैं पांच रूप रस गंध इनका वो ग्रहण नहीं कर पाती है हो जाती है नवतुष्टि उसी पर ये कहने जा रहे हैं इसलिए तद इंद्रिय बदद्वार इसी के नीचे ही कार्यकार है पचास में तदेव इंद्रिय बदद्वारेण शक्ति मुक्त स्वरूपता अतः सप्तश बुद्धे ही कुता विपर्यात पुष्ट सिद्धि नाम विपर्य मन अभाव होने से विपर्यास तन्य निरूपणा विपर्या का निरूपण कैसे करेंगे यश अभाव सब प्रतियोगी ऐसा कहते हैं तो इन नौ तुष्टियों का अभाव होगा तो नौ विपर्य हो जाएंगे वही बद हो जाएंगे वही कर तद प्रतियोगिकवाद नवधा भवंती बधा एवं सिद्धेव अष्टधा उनका विपर्य भी कितने होंगे आठ हो जाएंगे तो आठ और नौ सत्रह हो जाएंगे तद विपर्यास्त निरूपणाद अष्ट भवंती आप सबसे पहले तुष्टि का भेद बताने जा रहे हैं किसका भेद बताने जा रहे हैं तुष्टि का भेद बताने जा रहे हैं तुष्टि नौ प्रकार की है ना उसका भेद लिखे जा रहा है इतुक्तमता परिगणयति उन नौ तुष्टियों का गणना कर रहे हैं पचासवीं कारिका में नौ तुष्टियों का गणना हो रही है दो प्रकार की पहले तुष्टि की भेद बता रहे एक आध्यात्मिक चार हैं और बाह है पांच हैं इसको मिलाकर कितनी हो गई पांच चार नौ हो गई वह कहाँ है तो पहले बताने जा रहे हैं अध्यात्मिक चतस्र कौन कौन चार हैं प्रकृत्युपादान काल भागाख्या एक प्रकृति है दूसरा क्या है उपादान है तीसरा क्या है काल है और चौथी कौन है भाग माने प्रकृति की तुष्टि उपादान की तुष्टि काल की तुष्टि और भाग्य की तुष्टि ये चार ही क्या है तुष्टियां हैं और चारों का चारों संसार के जन्म के हेतु बन जाती है क्योंकि विवेक ज्ञान को पैदा नहीं होने देती है वो बताएं कैसे कैसे इनका मतलब क्या स्वयं लिखने वाले आगे बाह्या विषय परमात मान विषय से उपरम हो जाने से पांच बाह्य तुष्टि होती है इस प्रकार से पंच चा नव तुष्टयो अभिमता तो कितनी हो गई नव तुष्टि हो गई पहला कौन सा तुष्टि है प्रकृति मात्र माने जितना भी कार्य है सब अपने आप प्रकृति कर देगी सम्मान कर आदमी सो गया फिर संतुष्ट हो गया अब आप प्रयास करेगा कहते नहीं प्रकृति आएगी तो अपने हो जाएगा हमारा तो इसी का नाम एक तुष्टि एक दोष है क्या ये दोष है दूसरा है कुछ उपादान मान उपाख्य तुष्टि जो है कि प्रवर्ज्या उपाय संन्यास ले लिया मुक्ति होना ही हमको है ये कौन हो गई उपादान तुष्टि कौन सी तुष्टि हुई है इसको बोलते हैं संन्यास लिया अब तो हम भाई हो गए साधु इसने मात्र से माने वस्त्र कमंडल के ग्रहण मात्र से जो तुष्टि होने वाली है वो भी एक बाधक है उपादान प्रवज्जोपादान पूर्वक यह हो गई तुष्टि अभ्यास आदि अभ्यास नहीं कर रहा है केवल संन्यास लेकर का अब तो मुक्त होना ही संन्यास ले लिया ये योग इसका नाम है उपादानाख्य तुष्टि ये भी संसार का आवागमन का कारण हो जाएगी तीसरी तुष्टि कौन हो गई अरे जब समय आएगा तो अपने मुख को क्या परिश्रम करना है ये कौन सी हो गई हमारी काल तुष्टि हो गई फिर कहेगा भाग्य है अरे भाग्य में होगा तो मिलेगा कहाँ जाने वाला है नहीं लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा ही अतः भाग्य की अपेक्षा संतोष करके बैठ जाना ये भाग्य की तुष्टि है ये कितनी हो गई तुष्टि साथ और रूप रस गंध स्पर्श ये कौन सी इनका अभाव हो जाना ये कौन सी तुष्टि है हमारी ये हो गई बाय तुष्टि वही लेकिन इनसे उपरम हो जाना बाय तुष्टि है मैंने शब्द सुनने की इच्छा ना होना रूप देखने की इच्छा ना होना रस ऐसे बताने वाले हैं उपरम लिखा ना विषय उपरमाद पंच अब लिख रहे हैं कौमदीकार प्रकृति व्यतिरिक्ता आत्मा अस्ति इति प्रतिपाद अभी तक ये बताया गया कि प्रकृति से व्यतिरिक्त आत्माओं ने पुरुषा है ये बात हम लोगों ने बताई ततो अस्य श्रवण मनन निर्ध्यासन करे श्रोतव्य मंतव्यम आत्मा बारे श्रोतव्य मंतव्य श्रुति कहती है जब प्रकृति से व्यक्ति एक आत्मा है तब हमारा बृहदारण उपनिषद कहता है श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य श्रवण करो मनन करो निध आत्मा बारे ऐसे गारी को समझा रहे हैं याज्ञवल्क जी वही यहाँ लिख रहे हैं कि प्रकृति व्यतिरिक्ता आत्मा प्रतिपद प्रति, प्रति पद्य मन प्रतिपादन प्रतिपादन करके ततो अस्य मन उसका प्रकृति से इस आत्मा भिन्न है कैसे तो उसका ज्ञान होगा तो श्रवण मनन निधिध्यासन कैसे ज्ञान होगा श्रवण मन तीन प्रकार की हमारे मन में बैठी हुई है एक असंभावना संशय भावना और विपरीत भावना इन तीन भावनाओं को हटाने के लिए तीन उपाय श्रुति ने कहा श्रवण मनन निध्यासन एक संशय भावना है एक असंभावना एक विपरीत यह हो गया आत्मा नास्ती यह हो गया असंभावना है ही नहीं आत्मा तो शास्त्र ने कहा किसने कहा है आत्मा सुना और असंभावना चली गई फिर संशय हुआ आत्मा कैसा है उसके लिए तो आया मनन किया उसके बाद उल्टा कहीं समझ गया कि सही नहीं आत्मा है उसको हटाने के लिए क्या आया निधिध्यासन और उसमें गहरा विचार करना है इसलिए तीन भावनाओं को हटाने के लिए तीन उपाय है संशय भाव मैंने अब असंभावना संशय भावना और विपरीत भावना तो संशय असंभावना को हटाता श्रवण संशय भावना का मनन और निधिध्यासन विपरीत भावना का वही कहने जा रहे हैं इसलिए उन्हें कहा श्रवण मननादिना विवेक साक्षात्कार विवेक के साक्षात्कार कराने के लिए तू असद उपदिष्ट करे सब बेकार है अरे भाई प्रगति है अपने हो जाएगा हमको क्या हो जाएगा क्या सोच रहा है सब ये बेकार है कौन इतना परिश्रम करे जब समय प्रगति होगी अपने करे वही कह रहा है इस विवेक साक्षात्कार तद असद उपदिष्टो तुष्टो जो न प्रयते ये असद है ऐसा उपदेश करके जो प्रयत्न नहीं करता है उनके लिए ये सब है शास्त्र ने कहा है परंतु प्रयास ना करके वो कहते हैं प्रकृति के अधीन ऐसा ऐसा करके बैठ गया उनके लिए बताई गई है तुष्टि तस् पुरुष कृते आध्यात्मिका चतसरा तुष्टो भवंती सबके लिए नहीं है जो प्रयत्न नहीं करता है उसके लिए है पहली कौन सी है तो प्रकृति व्यतिरिक्तम आत्मान अधिकृत यदि उसको ज्ञान की प्रकृति से अतिरिक्त आत्माएं जान रहा है ऐसा समझ करके यस्मात तात्ष्टय तस्मात इत्या जिस कारण उसको ये तो ज्ञान आत्मन अधिकृत अध्यात्म शब्द की व्युत्पत्ति होती है क्योंकि ये तो उसको ज्ञान की प्रकृति से अतिरिक्त आत्मा है उस आत्मा को लेकर के संतोष हो जा रहा है चार प्रकार से उसको ये आत्मा है उसका ज्ञान हमारी प्रकृति करा देगी संन्यास से उसका ज्ञान हो सकता है कपड़ा पहन लेने से उसका ज्ञान क्या हो जाएगा समय आएगा तब हो जाएगा अथवा भाग्य में होगा तो अपने आप हो जाएगा ये जो चार है वो किसको लेकर के आत्मा को लेकर के है इसलिए उन्होंने कहा इनका नाम रख दिया है आध्यात्मिक इनका नाम रखा है वो हेतु दे रहे हैं कि प्रकृति व्यतिरिक्तम आत्मान अधिकृत या बनाई गई असमा जिसका तस्मा इन तुष्टियों का नाम है आध्यात्मिक काफ कौन कौन सी है तो उनकी गणना कर इत्यताहा गणना करने जा रहे हैं प्रकृति उपादान काल भागाख्या प्रकृत्यादि आख्या यासाम मन प्रकृति है नाम जिसका उसका नाम प्रकृताख्या आख्या कालाख्या भागाख्या ये शब्द का प्रयोग करना मन प्रकृति नाम की तुष्टि और उपादान नाम उपादान नाम की तुष्टि और काल नाम की तुष्टि और भाग नाम की ये तुष्टि है तत्र प्रकृत्याख्या तुष्टि मान प्रकृति नाम की तुष्टि का स्वरूप क्या है यथा कश्चित उपदेशे विवेक साक्षात्कारो ही प्रकृति परिणाम भेद किसी ने उपदेश दिया आत्मा के बारे में तो है क्या चीज अरे वो ब्रह्म ज्ञान और प्रकृति का विवेक क्या है विवेक साक्षात्कार क्या वो प्रकृति का परिणाम है जब प्रकृति चाहेगी तभी ना होगा तो क्या इसमें करना परिश्रम वही कहने जा रहा है विवेक साक्षात्कारो ही विवेक साक्षात्कार है वो प्रकृति का परिणाम का एक भेद विशेष है तम चा प्रकृति रेव करोती वह प्रकृति ही करे हम लोग नहीं कर सकते हैं लोग कहते हैं तम चा प्रकृति रेव करोती फिर तद तद ध्यानाभ्यास क्या ऐसा ध्यान अभ्यास में से क्या लाभ है प्रकृति ही क्या करेगी हमको जब आएगी प्रकृति तब विवेक ज्ञान करा देगी तो ये ऐसा बैठ करके कुछ काम न करना बैठ जाना यही तुष्टि है प्राकृत तुष्टि तम प्रकृति रे करो करोती कृतम तद ध्यानाभ्यास बहुत हमने ध्यानाभ्यास के छोड़ो तस्माद एवं अस्वास्थ्य बस इस प्रकार का आश्वासन दे करके क्या किया आश्वास माने उसको आश्वासन दे करके विश्वास दिला करके घबराओ मत जब तुम्हारा प्रगति होगी सब हो जाएगा या इम उपदेष्टव्य शिष्य से तुष्टि माने जब जो उपदेष्टव होता शिष्य ऐसा समझ करके घबराने की बात नहीं है इसलिए वह शिष्य उपदेष्टव्य जिसको उपदेश किया वह संतुष्ट हो गया अतः प्रकृतो या तुष्टि ही जो प्रकृति में ही संतुष्ट हो गया उसी का नाम हो गया प्रकृत्याख्यात पुष्टि उसी का दूसरा नाम है अम्भ उच्चते क्या कहते हैं उसका दूसरा नाम अम्भ अपि उसको कहते हैं इसलिए का अम्ब कहो प्रकृति तुष्टि को दोनों का पर्यायवाची शब्द से प्रयोग करने जा रहे हैं तीसरा तो अब दूसरा बताने जा रहे हैं यह तो प्रकृति अपि प्राकृत्यपि प्राकृति बोले क्या बोले प्रादीर्घ हरस है या तो प्राकृत्य क्या लिखा है वीर है ना प्राकृत्य विवेकाख्यातिर न विवेकाख्यातिर न सह प्रकृति मात्राद भवती माँ भू सर्व सर्वदा तन मात्र सर्वान प्रत्य विशेषात अब उन्होंने कहा देखिए आपने कहा प्रकृति कह के नहीं प्रकृति तो सबकी बराबर है सबको उत्पन्न किया इससे काम नहीं चलेगा कुछ हमको और करना पड़ेगा तो और क्या करना संन्यास लेना पड़ेगा संन्यास ले लेते हैं चल करके यह वही कहा या तो प्राकृत्य विवेकाख्याति न प्रकृति मात्रात भवती जो या प्राकृत विवेकाख्याति है वह प्रकृति मात्र से नहीं होती है केवल तो प्रकृति मात्रात माँ भूत मत हो क्यों नहीं होती है सर्वस सर्वदा तन मात्र से मैंने प्रकृति मात्र सबके प्रति सदा विद्यमान है वही कहता सर्वस्व मन सर्वस्व कृति सदा मन हमेशा तन्मात्र प्रकृति मात्र सर्वान प्रति अविशेष सबके प्रति उसमें समानता है कोई भेदभाव नहीं है ऐसी स्थिति में प्रव्रज्यायास्तु सा भवती कह संन्यास से होता है प्रव्रज्याया मने संन्यास ले लेना बोलते संस्कृत प्रव्रज्या वही कहे प्रव्रज्यायास्तु सा भवती अर्थात घर द्वार छोड़ करके और संन्यास ले लिया मतलब भेद बना लिया इतने मात्र से हो जाए तस्मात प्रवज्ञायाम उपाधि था इसलिए प्रवज्ञा लेनी चाहिए संन्यास लेना चाहिए कृतंतेन अभ्यासेन आयुष्मन इत उपदेश या तुष्टि अरे क्या ध्यान अभ्यास से युष्मन क्या लाभ है इसलिए क्या करो संन्यास ले उसी सब काम हो जाएगा ऐसा भावना करके वो क्या हो गया संतुष्ट हो गया संतुष्ट हो गया या कौन सी तुष्टि हो गई उसका नाम है उपादानाख्या तुष्टि इसी का नाम दूसरा ये कह रहे हैं सलीलम इसका विपत्ति बड़ी सुंदर नहीं कह रहा श्री धातु इन शरीरम शब्द होना चाहिए रलयोर अभेदा और ला का अभेद हो जाने के कारण कालापेक्षिक सुखा मुख सुखा शिकारूपा तुष्टिर वही माने वृष्टि होगी मेघ की तुल्य इसे आएगा ना समय बारिश अपने हो जाएगी उसी प्रकार उसने कहा जब आएगा संन्यास ले लिया है कभी न कभी तो क्या होगा जब खेत बह दिया है तो कभी न कभी बारिश होगी इस भाव का नाम है सलिल तुष्टि का नाम है दूसरे शब्द से कही जाती या तो प्रव्रज्या न निर्माण एति ये लिखा है ना निर्माण देती क्या लिखा है आपल में निर्माण है ना निर्माण आपल में क्या पाठ है आपको दोनों एक ही पुस्तक है वही इसमें कुछ हमको संदेह हो रहा है या तो प्रवृज्ञापी सद्या न निर्माण देती माने या जो प्रवृज्ञा शीघ्र निर्माण माने मोक्ष को नहीं दे पा रही है सही वाले काल के समय होगा भाई अरे संन्यास घबरा क्यों रहे हैं समय तो आने दीजिए क्या होगा किसने काम संन्यास मुक्त नहीं हो रहे अरे समय आने दीजिए महाराज तब ना होगा वही कहने जा रहा है या तो प्रवृज्ञा सद्यो न निर्माण देती मान जो नाम की तुष्टि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है सही काल परिपाकम का वो समय आएगा तब हो जाएगा काल आएगा सिद्धिम ते विधास्यति माने काल परिपाक जब आएगा तब तो प्रज्ञा सिद्धि को प्राप्त करा देगी अलम उत्तप्त तैयार दुखी होने से कांतर हो या दुख मत करो तब उपदेश है या तुष्टि उनके उपदेश में जो तुष्टि होगी शिष्य को उसका नाम है कालाक्ष दूसरा नाम उसका है अघ क्या तुष्टि का नाम है अब ओघ इत्युच्यते क्या नाम है ओघ माने ओज प्रवाह उत्तुष्टि का नाम दूसरा अब तीसरी तुष्टि बताने जा रहे चौथी तुष्टि बताने जा रहे हैं क्या या तू प्रकृतिर न कालात न उपादानाद्वेकाख्याति ही किसी के ना तो प्रकृति से होने वाला है हमको विवेक विज्ञान दिशा किसी ने कितने प्रकृति के चक्कर में पड़े रहे किसी ने समय भी से नहीं होता है संन्यास लेने से भी नहीं होता तो कैसे होता है यदि तुम्हारे भाग्य में होगा तो कह काल भी तुम्हारा टार नहीं सकता ऐसा नहीं बोलते लोग तुम्हारा यदि भाग्य में होगा तो समय कुछ नहीं करता है आदमी का विपरीत समय में उनको लाभ हो जाता है यह तुष्टि कौन हो गई भागाख्या या ना प्रकृतिर लभ्यते विवेकाख्या ना पी कालात ना पी उपादानात्मन संन्यासात विवेकाख्याति या न भवती अपितु किम भवती भाग्यादेव अतएव मदालसा एक दृष्टांत मंदालसा के चार पुत्र थे तो कहते हैं उसने अपने पुत्रों को तीन को तो साक्षात उपदेश दे दिया तो तीनों मुक्त हो गए एक को कहा था कुछ बांध दिया था कि जब तुमको कष्ट में उसको पढ़ लेना तो हो जाएगा तो वही कहने जैसे मंदालसा के अपत्यानी अति बालानी यद्य बिल्कुल छोटे थे ज्ञान नहीं था परंतु भाग्य के कारण उनको माता के कहने से चारों क्या हो गया ब्रह्म ज्ञान हो गया वही दृष्टान दे रहे हैं जितना वहां समय था उनका छोटे में क्या निध्यासन भी नहीं किया उसने लसा आप वाले में क्या लिखा है मदालसा हाँ, मदालसा ही होना चाहिए मदालसा का ही प्रयोग आता है क्या मदालसा है ना यही बहुत प्रसिद्ध है मदालसा अपत्यानी मन मदालसा के चार पुत्र थे अति बालानी बिल्कुल छोटी थी मातु उपदेशादेव माता का उपदेश से क्या हो गया मंदालसा एक श्लोक हमको उठने पहले याद था उठ नहीं रहा इनका है भुआज पुत्र उवाज पुत्र हाँ शुद्धोसी हाँ, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी माया पर ऐसा है ना पूरा उसी ने कहा तो वही कहने जा मातुरुपदेशाद एव विवेकाख्यातिम ख्याति मंती मुक्तान माने माता के उपदेश उनको विवेक ज्ञान हो गया बहुवचन का रूप है विवेक ख्याति मंती ये नपुंसक लिंग में क्योंकि अपत्यान नपुंस चारों बालक विवेका ख्याति को माता के उपदेश से प्राप्त होकर के मुक्त हो गए तस्माद भाग्य में वह हेतु नान्य इसलिए भाग्य से ही मुक्ति मिलती है उपाय से कुछ नहीं होने वाला इत उपदेश या तुष्टि ऐसे उपदेश करने पर जो शिष्य में तुष्टि आती है वह हो गई हमारी भाग आख्या तुष्टि जिसका नाम है वृष्टि ही क्या नाम उस तुष्टि का दूसरा नाम वृष्टि जल के सब भेद कह दिया क्या है वृष्टि पहला अम्ब माने जल फिर वह सलिल हो गया सलिल माने शरीर शब्द से श्री धातु से बनाया है रलयोरा भेदा शरीर जाते रलयोरा भेदा काला अपेक्षित उसके बाद बताया तीसरा बताया उन्होंने ऊघ और चौथा क्या बताया या मेघ वृष्टि के तुल्य बाह्या दर्शयति अब बाह्य को बताने जा रहे हैं बाह्य तुष्टया कितनी है तो पांच है तुष्टयो विषयोप प्रमात पंचमन विषयों के उपरम हो जाने से पांच प्रकार की है या खलु अनात्मना अनात्मा कौन कौन पदार्थ है प्रकृति है महद है अहंकार है वही कह रहा अनात्मना प्रकृति महद अहंकारादीन आत्मा इति अभिमन्य मानस्य वो अपने इन्हीं को आत्मा मान रहा था पहले मानने के कारण फिर उसको वैराग्य हो गया क्या हो गया इनसे वैराग्य हो जाएगा और वैराग्य मात्र से संतुष्ट हो जाएगा तो बाय तुष्टि कहलाएंगे वही कहने जा रहे हैं की प्रकृति महद अहंकारादीन आत्मा इति अभिमन्यमान माने अभिमान करने वाला जो भी अभिमान से पुरुषस्य क्या हो गया हमारा जो जो अनात्मा है प्रकृति है महद है अहंकार है इंद्री सब ऊपर जोड़ लिए इनको आत्मा मान करके वैराग्य सत्य इससे वैराग्य हो जाना आत्मज्ञान नहीं हुआ है इनसे केवल उसको वैराग्य मात्र हो गया और शांत हो गया ये कौन हो गई बाह्य तुष्टि इत वैराग्य सति तुष्ट इनसे जब वैराग्य होगा ताह उन तुष्टियों का नाम बाह्य आत्मज्ञानाभावे सति मैंने आत्मज्ञान नहीं हुआ और अनात्मान अधिकृत प्रवृत्त और अनात्मा ये सब पदार्थ है इनको लेकर वो क्या हो गया प्रवृत्त हो गया मन विषयाणी पंच वैराग्याणी वही कहने तत्र ताश्च वैराग्य सती संभवंती मैं जब वैराग्य आएगा तभी ये पांच तुष्टियां हो सकती हैं वैराग्य क्योंकि वैराग्य के जनक है इसलिए इनका नाम है वैराग्य वैराग्य हेतु पंचत्वाद ये पांचों वैराग्य के हेतु हैं इसलिए इनका नाम भी क्या कहलाती है वैराग्य नाम की तुष्टि कहलाती है वैराग्याणपि पंच तत् पंचत्वात तुष्टया पंच वह पांच हैं उनके भेद से तुष्टि भी कितनी हो गई हमारी भेद हो गया क्या क्या बजरा तो बता रहे एक एक का उपरम्यते अनिन उपरामो वैराग्यम उपराम क्या चीज है यहाँ वैराग्य है कैसे वैराग हो रहा है तो विवेक पूर्वक नहीं हो रहा है बड़े सुंदर ढंग से लेकर आए हैं विषय से उपरम हो जाना इसी का नाम हुआ विषय का वैराग्य विषयोपरमो माने विषय वैराग्यम क्या आप कैसे वैराग है तो बड़ा सुंदर लेकर आए आदमी इकट्ठा करने से जो आलसी सोचता रहे क्या इकट्ठा करना पैसा और ऐसा बैठ गया घर में मैंने तो यह क्या होगा एक वैराग जिसे आजकल कहते वही घटा रहा है सब चारों इति विषयो भोग्या जो विषय भोग्य है शब्दादया पांच रूप गंध जो साध पांचों भोग्य है उपरमा उनसे उपरम होना यही पांच प्रकार का है वो कौन कौन उपरम होना है लेकिन अर्जन इकट्ठा करना फिर रक्षण करना इकट्ठा करके रखना फिर क्षय हो जाता कभी कभी नाश हो जाता भोग हिंसा दोष दर्शनाथ उसने कहा अर्जन में भी क्या होता है बहुत परिश्रम लगता है फिर उसका रक्षण करने में और परिश्रम है कहीं नष्ट हो जाएगा एक ये होगा क्षय का भय से कोई उसको भोग लेगा हिंसा है ऐसा दोष दर्शन करता है इन सब में दोष दर्शन हेतु जन्माना जन्म होकर के इन पांचों से व्यक्ति क्या हो जाता है उपरम हो जाता है हट जाता है अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है वह अनात्मा में ही रमण कर रहा है बुद्धि इत्यादि में परंतु इनके कारण कि इनके भय से वो अलग हट जा रहा है रक्षण क्षय भोग हिंसा दोष दर्शन मूलक इनके दोष दर्शन मूलक पंच उपरमा भवंती पांच चीजों से आदमी उपरम हो जाता है किसी कुछ इकट्ठा नहीं करता है फिर किसी रक्षण भी नहीं करता है क्या से लाभ है नष्ट हो जाए तथा ही सावादयो धनार्जन उपाय क्या लिखा सेवादय सेवा क्या है सेवा करे पैसा आएगा तो मैंने धन का उपार्जन को उपाय क्या सेवादि पूजा पाठ है सेवका सेवकादीन दुखा कुरवंती और सेवकादि क्या करते हैं जब परिश्रम कर दुख कराएंगे दुखा में क्या लिखा है ना दुखम अदुखम दुखम संपादयंती है जो दुख नहीं था उस दुख रूप में देखना इसी का नाम है दुखा कुरवंती निज प्रत्या कैसे द्रव्य द्रव्य दूरी स्वर स्वरध्वस्थ दंडी चंडार्त चंद्र चंद्रजाम वेदनाम भावन प्राज्ञ कह सेवासु अनुसज्जते इतना उसमें बताने जा रहा है क्या का दोष हो जाए कहाँ का श्लोक पूरा ये लिख रहे हैं एत शास्त्र त्रयम एक देश मन दूरीश्वर द्वार बहिर वितरधिका दुराशिकाई रचितो अयम अंजलि यद अंजन नाभम निरपायम अस्ति मे धनंजय धनंजयस्य अंधन भूषणम धनम ऐसा करके यहाँ प्रयोग तो करने जा रहा है आगे कौन ठीका है संस्कृत का है थोड़ा इसमें एक बात देखना वही लिखा ना द्रव्य अलग है द्रव्यद दुरीश्वर द्वास्था दंडी चंडार्ध चंद्र चंद्र जाम वेदना माने जिनकी वेदना को समझ करके भावयन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है प्राज्ञ का सेवासु अनुसजते कौन इस सेवा में चक्कर में पड़ेगा ये कहना चाह रहा है सबसे पहले लिखा उन्हें द्रव्य उसका एवं अन्य अर्जन उपाय ये सब के सब अर्जन की उपाय हैं दुखा प्रमो या तुष्टि शैव दूसरा नाम पारम इतुच्यते अर्थात इनका पार नाम की एक मिनट दिखाइए वो टीका है इसमें एक एक करके हमको एक दो एक दर माने द्रव्य का अर्थ कहने जा रहा है दर्प करता हुआ लोगों ने वो अहंकार हो जाता है तो द्रव्यन माने वह द्रव्य का ये सत्य प्रत्यांत है इसलिए द्रव्यत माने अहंकार करते हुए दर्प करते हुए द्रव्यत माने अहंकार करते हुए दर्पम कुरवन इसका नाम है द्रव्यत गच्छत पठत होता ना पढ़ते हुए नपुंसकलिंग में तो द्रव्य दर्पम दुरी सराहा कह रहे जो मालिक बड़ा खराब है इसके यहाँ कौन नौकरी करेगा नहीं कहते हैं पर हेतु बताने जा रहा है तो दुष्ट ईश्वर मन धन स्वामी सही आदमी नहीं है एक हो गया ये हो गया दुरीश्वर शब्द का द्वास्थ द्वार तिष्ठती द्वास्था मन द्वार संरक्षक मैंने नौकर जो जो चौकीदार तरह का द्वार का संरक्षक का नाम का है द्वास्थ वो आ क्या है यो दंडी दंडधार को भ्रत्या लाठी लेकर जो घूमता है वो कौन हो गए हमारा यहाँ दंडी शब्द से प्रयोग किया वृत्त को पहरेदार जिसको कहते हैं तस्य चंडा महान एव कठिन ये सब का सब क्या चंड माने बहुत कठिन व्यक्ति इनमें से जो कहना कड़ा व्यक्ति यह अर्ध अर्धचंद्रमीव स्वरूपम यस्य अर्थात क्रोध में एकदम उसका क्या हो जाता है अर्धचंद्र के समाज नेत्र हो जाता है वही लिखने जाए अर्धचंद्रमीव स्वरूपम यस्य हस्तस्य सा हस्त वो यहाँ हाथ से ऐसा ऐसा नहीं मांगता है ऐसा का नजारा अंजलि बना करके अर्धचंद्र की तरह इसे हाथ पसारता है ये शब्द का प्रयोग कर रहा है अर्धचंद्रम यही वह स्वरूपम हस्त से ये हाथ का है उसका यहाँ अर्धचंद्र से लेना है वह अंजलि युक्त हाथ तस्मात अंधचंद्र अर्धचंद्र रूपत्वाद हस्ताद जायते किम ताम वेदनाम पीड़ा इस सिस्टम में क्या होने वाली है पीड़ाम भावयन स्मरण का प्राज्ञा दुखदायिनी सेवासु अनुसजते कौन इस दुखदायिनी सेवा में करेगा क्योंकि वह जो मालिक है खराब मिल सकता है कोई अहंकारी मिल सकता है कोई क्या कहता द्वार का संरक्षण में कोई डांटेगा फटकारेगा इससे अच्छा क्या है अंजलि बांधना पड़ेगा हाथ जोड़ना पड़ेगा तात्पर्य क्या है हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ेगा इन सबके सामने इससे अच्छा है कि ये सब करना नहीं चाहिए इतनो करके वह छोड़कर चला जाना ये क्या नाम हो गया तुष्टि हो गई वही वेदनाम भावन कहा सेवासु अनुसजते अर्थात न अनुसजते ये उन्होंने कह दिया पारम यहाँ पार का बड़ा सुंदर अर्थ कर रहे हैं पारम इति धनार्जन दुख पार प्राप्त पाराख्यम तुष्टि क्योंकि यह तुष्टि क्यों पार है क्योंकि यह दुख से पार कराने वाली है इसलिए इसका नाम क्या होगा गई पार नाम की तुष्टि है दूसरा नाम किसका है पार नाम वही कहने जा रहे हैं एवं अन्य अर्जन जो पाए दुख के लिए उसने उपरम हो जाना ऐसा पारम इतुचे यह पार नाम की तुष्टि है आगे देने जा रहे हैं क्यों आदमी भगना चाहता है तो एक एक का दृष्टान दे अर्जितम धनम हम इकट्ठा करेंगे धन तो चोर आकर ले जाएगा तो आदमी भय रहेगा नहीं रहेगा इसे इकट्ठा ही नहीं करना वैसे तथा अर्जितम धनम राजा एकागारिक अग्नि जल औहादिभ्य एक एक अर्जित धन को राजा ले सकता है आपका राजा आदेश दे देगा पूरा चला जाएगा ये तो जितना का कर में ले जाएगा अथवा राष्ट्र में आपत्ति आ गई आपका धन ले सकता है राजा दूसरा एकागारिक कहते हैं चूर को एका गारिक का अर्थ है चोर उस जो चोर के द्वारा ले जा सकता है चोर आपका हरण कर सकता है दूसरा है आग लग गई तो क्या होगा सब भस्म हो जाएगा अथवा बहुत बड़ी बाढ़ आ गई जलौघा गया इसके द्वारा क्या हो जाएगा अर्जितम धनम विनंक्षति नष्ट हो जाएगा एक इसलिए वो अपरम हो गया उससे हट गया भी हमको कुछ करना नहीं है दूसरा देने जा रहा है तद रक्षणे महद दुखम अर्जन किया अर्जन करके उसकी रक्षा करना कितना दुख है राजा से बचाना चोर से बचाना अग्नि से बचाना पानी से बचाना भावयता ऐसी भावना करते हुए परमे या तुष्टि जो विषय उपर जो तुष्टि होती उसका नाम द्वितीया इसका नाम पारम नहीं सुपारम ये कौन तुष्टि हो गई सुपार नाम की तुष्टि हो गई ये दूसरी तुष्टि हुई पहले अर्जन वाली है और फिर उसमें दिया था ना तीन करके अर्जन आगे लिखा था अर्जन रक्षण छह ना तो ये बताया रक्षण वाला पर रक्षा करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी जो दूसरा से अर्जन के बाद रक्षण दो हो गए अब यहाँ यही नौ गिनाइन में अर्जन है रक्षण है छह है भोग हिंसा दोष इनको बना के छह बनाने वाला है पांच तुष्टि अब आया तथा महत आया महाता आयासीन अर्जितम धनम तो बहुत परिश्रम से हमने धन अर्जन किया खाएंगे तो क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा भोग करेंगे इसलिए उसका भोग नहीं करना वही कहा भुज्यमानम चीयते तत्प्रक्षयम भावयता मैं उसके क्षय को देख करके उसके ऊपर हम हो जाता है हम नहीं करेंगे विषय ऊपर में यह तुष्टि तृतीया पारावारम उसका नाम रखें क्या रखे हैं पारावारम पशुपारता क्षयम कदाचित भवती प्रवृत्ति कदाचित न प्रवृत्ति माने कदाचित उसमें प्रवृत्ति होती है और कदाचित नहीं होती है इसलिए उसका नाम है पारावाराक्य तुष्टि आप वाले पारम पारम लिखा है इसमें लिखा है पारावार ये तो ये लिखा पारावाराक्षम पारम पारम नहीं पहले वाला एक पहले था पारम फिर दूसरे में सुपारम इसमें लिखा है पारावारम उसका व्याख्या बड़ी सुंदर कहना नीचे पार आप नीचे का टीका देखिए क्या लिखा है पारा पार, पारा पार, पारा पर ही लिखा उसमें भी अच्छा इसे पारा परंतु इसमें पारा पर लिखा क्योंकि एक जगह गलत पाठ पाठ ही सीखा है तो कहता कदाचित उसमें प्रवृत्ति होती है और कदाचित नहीं होती है जब नहीं होती तो पार हो गया जब नहीं होती है तो अभार हो गया अथवा अपारा अपारम लिखा है ना वो भी ठीक है पार माने उसे हट जाना अपार माने उसी में लिप्त हो जाना कदाचित प्रवृत्त हो जाना ठीक है तो वही पारा पारा पार उच्चते एवं शब्दादि भोगाभ्यासात प्रवर्धन थे काम नियम है जितने आप भोग करेंगे उतना है नहीं जैसे अग्नि में जितने हवी डाली जाएगी उतने बढ़ता है तो जितने हम भोग विलास करते उतनी हम की लालसा बढ़ती है तो ये वाला कहने जा रहे हैं शब्दादि भोगाभ्यासात प्रवर्धनते कामाह शब्द आदि के भोग के अभ्यास से बहुत कामनाएं बढ़ती हैं तीचा विषया प्राप्त और जब विषय नहीं प्राप्त होता है तो कामिनम दुखा कुरुवंती कामियों को बहुत दुख देती हैं इस भोग दोषम भोग दोष को भावना करता हुआ भावता विषय परमात्म जो विषय रूपा है वह तुष्टि अनुत्तमाम्भा यस्माद विद्यते उत्तमा अनुत्तमा ये विपत्ति होती है मैंने सबसे उत्तम तुष्टि है कि काम भावना विषय भावना से अलग हो जाना ये कौन सी तुष्टि हो गई हमारी पहला अर्जन फिर निरक्षण फिर क्षय फिर भोग वाला आया भोग हिंसा क्या हो गया हमारा उसी को देने जा रहे हैं अब तीसरी बताने जा रहे हैं हिंसा दोष वाला ये भोग वाला हो गया भोग में दोष देखना है फिर हिंसा में दोष देखना है उस पर कहने जा रहे एवं नानु अनु ना उपहत अनुपहत्य भूतानी विषय भोगा संभवती जब तक इन भूतों को हम हटाएंगे नहीं तब तक विषय भोग संभव नहीं है हिंसा दोष दर्शनात अन्य को मारे बिना हमको भोग नहीं मिलेगा इसलिए उस चैट का मारना नहीं हम कटो हिंसा दोष दर्शनात विषय से उपरम होना या तुष्टि सा पंचमी उसका नाम है उत्तमाम भा क्या नाम उसका उत्तमाम भा तो यहाँ आज पांच तुष्टि गिनाई गई थी कौन कौन अर्जन रक्षण क्षय भोग हिंसा दोष इनके अर्जन में दोष देखना अर्जन की तुष्टि हुई रक्षण में दोष देखना रक्षण की तुष्टि हुई क्षय में दोष देखना वो क्षय तुष्टि हुई और भोग में दोष देखकर हट जाना उससे भोग नाम की तुष्टि हो गई हिंसा दोष दर्शन हो जाने से पांचवी तुष्टि हो गई एवं आध्यात्म की भी चतस्त्र भी वायाभिश्च पंच भी मान आध्यात्मिक चार वाय पांच मिलकर कितनी हो गई नव तुष्टि हो गई अब बताने जा रहे हैं अष्ट सिद्धि कौन कौन है तुष्टि सिद्धि नाम कहा था ना नौ नौ तुष्टि थी आठ सिद्धि वो सिद्धि अलग है ऐश्वर्य वो आठ ऐश्वर्य है कौन अनिमा महिमा लक्ष्मा प्रकाम ईश्वर वसित्व ये आज बताने जा रहे हैं बड़ा जबरदस्त लिखने जा गौण मुख्य भेद ही सिद्धिर आ गौण और मुख्य के भेद से सिद्धियों के आठ भेद बताए जा रहे हैं क्या क्या है ऊह शब्दोध्यनम दुख विघातस्त्रय सुहृत प्राप्ति दानंच सिद्धियो अष्टौ सिद्धे पूर्वो अंकुशस्त्रिविधा करें इस कारिका में कहा कि इतनी तुष्टि है कितनी है आठ है तो पहले हम लोगों को लगा लेना है दुख विघातात लिखा ना है दुख विघातास्त्रया माने दुख विघाताणाम त्रयाणाम मैंने जो दुख का जब विघात होता है तो अन्य तुष्टिया होती हैं जैसे दुखद विघाता तीन तुष्टि तो दुख के विघात से उत्पन्न होंगी एक हुआ अच्छा व्यक्ति मिल जाए ये कौन हो गई चौथी हो गई ऊह माने कल्पना कहते हैं किसी शब्द के स्थान नया शब्द कल्पना ऊह नाम की तुष्टि होती है शब्द आप जान रहे हैं सुंदर शब्द बताएगा शब्द का तत्कार शब्द अध्ययन करके ऐसा करके कितनी बताने और दान तो यह हो गई दुखत्रया दुख विघातास्त्रया तीन सूरत प्राप्ति चार और ऊ शब्द है और अध्ययन है इस प्रकार कितनी तुष्टि दान मिला करके आत तुष्टि है पूर्व अंकुशस्त्र विधा इनमें तीन का पहला मुख्य है वो कौन कौन है और अंतिम लिखाने जा रहे हैं कौन विहन्य मानस दुख से तृत्व दुख कितना है तीन है आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक इसलिए कह रहा है जिसको नष्ट करने वाला जो दुख है वो तीन है और तद विघात उसके अभाव कितने होंगे तीन होंगे इत इमा मुख्या तीसरा सिद्धया तीन सिद्धि इसमें मुख्य तीनों दुखों का नाश हो जाना यह मुख्य सिद्धि है तद उपाय उसके जो उपाय हैं उनके नाश के वो गौण सिद्धि हो गई कितनी पांच तीन आठ पांच इतरा गौण्याहा पंच सिद्धिया तापी हेतु हेतु मत तया मन एक हेतु है एक हेतुमान है इसको लेकर के उनको पांच कहा जाता है तत्र आदि सिद्धि कौन है तो लिखने जा रहा तत्र आद्या अध्ययन लक्षणा असिद्धि हेतुरेव मुख्यास्तु सिद्धयो हेतु मत्या यदि नहीं पढ़ेंगे तो बाकी सब सिद्धि होगी नहीं होगी इसलिए कहा तत्र आद्या अध्ययन लक्षणा असिद्धि हेतु रेव मन अध्ययन लक्षणा सिद्धि न होने के कारण ही अन्य जितनी सिद्धि है वो सब क्या हो जाएंगी हमको असिद्ध हो जाएंगी इसलिए अध्ययन लक्षण सिद्धि हेतु है और बाकी सिद्धियां क्या है हेतु मान है हेतुमती है कौन कौन तो शब्द ऊ है सूरत प्राप्ति है दान इनका ये कहने जा रहे हैं एक उसमें मुख्य है बाकी है अमुख्य है मुख्या हेतु हेतुमत्या जो मुख्य सिद्धि है वह हेतुमत है अध्ययन सिद्धि वह गौण है एवं मध्यमास्तु हेतु हेतुमत्या कुछ ऐसी है कि हेतुमान भी है और हेतु भी है दोनों काम कर रही है जैसे हमारा महद क्या है कार्य भी है कारण भी है अहंकार कार्य भी है कारण भी है वही गिनाने जा रहे हैं सब के सब एक एक का व्याख्या करेंगे मुख्या हेतु विविध गुरु मुखात अध्यात्म विद्या नाम अक्षर स्वरूप ग्रहणम अध्ययनम प्रथमा सिद्धि प्रथमा सिद्धि क्या है विधिवत विधि पूर्वक गुरु मुखात जो गुरु है उसके मुख से अध्यात्म विद्या नाम जो ये वेदांत शास्त्र आदि है ये अध्यात्म विद्या है इन विद्याओं का विद्या नाम अक्षर स्वरूप ग्रहणम उनका वास्तविक स्वरूप क्या है ब्रह्म का स्वरूप क्या है ऐसे जो ग्रहण करने का नाम है उनका पढ़ने का नाम क्या है अध्ययन है ये पहली सिद्धि है कि विधवत गुरु के मुख से अध्यात्म विद्या का अध्ययन करना ये भी क्या एक है सिद्धि है इसीलिए कहने जा रहा वो इसी सिद्धि में आदमी रुक जाता है हमने इतने बड़े गुरु से पढ़े हैं तो बिगड़ जाता है आगे बढ़ना है इसमें क्योंकि ये भी क्या सब बुद्धि के भेद हैं बुद्धि के विपर्य हैं ये मुक्ति नहीं दिलाने वाले हैं ये केवल आदमी को सिद्धि से एक रुकावट आगे बढ़ना परंतु क्यों आदमी की ये सिद्धि होती है वो बता रहे हैं ढंग विधिवत गुरु मुखात अध्यात्म विद्या अक्षर स्वरूप ग्रहणम इति अध्ययनम अक्षर स्वरूप ग्रहण करने का नाम अध्ययन है यह प्रथमा सिद्धि यह प्रथम सिद्धि है जिसका नाम है तारम उच्चते इस सिद्धि का भी नाम क्या है वहां से पारम से शुरू हुआ था यहाँ तारम वहाँ क्या था उनमें दुख माने उन नौ अठ नौ दी तुष्टि तो में कहा शुरू हुआ था पारम से यहाँ से कहा हो रहा है तारम तत्कार्यम शब्द माने उसका कार्य क्या सब शब्द पद से लेना है पद बाक के सब लेना शब्द माने शब्द प्रमाण यहाँ शब्द से क्या लेना है शब्द प्रमाण वही लेकर तत्कार अध्ययन का कार्य क्या है शब्द माने वाक्य का ज्ञान हो जाना शब्द शब्द इति पदम शब्द जनित अर्थक ज्ञानम शब्द से जायमान जो अर्थक ज्ञान है उसको यहाँ शब्द पहले अध्ययन किया अध्ययन के बाद अर्थ ज्ञान हुआ उस वाक्य अर्थ ज्ञान का नाम है शब्द यदि लक्ष्य कार्य कारणोपचारात क्योंकि कार्य क्या हुआ अर्थ बोध उसका कारण कौन है शब्द प्रमाण इसलिए कार्य कारण में अभेद करके कह दिया शब्द सिद्धि शब्द सिद्धि से लेना है अर्थक ज्ञान क्या लेना है शब्द के अर्थ का ज्ञान होना यह भी एक सिद्धि है कार्य कारण उपचार सात द्वितीय सिद्धि इसका नाम तार के बाद सुतारम क्यों पहले केवल शब्द ग्रहण किया था अब अर्थक ज्ञान भी हो गया तो और अच्छा हो गया इसलिए सुतारम उच्चते क्यों पाठ अर्थाभ्याम तदिदम द्विधा श्रवणम एक पहले उसने क्या किया पढ़ करके रट लिया <coughs> फिर गुरु ने जब अर्थ बताया तो दोबारा भी श्रवण कर लिया इसलिए हुआ सुतारम कितना सुंदर पाठ अर्थाभ्याम तदिदम <coughs> दुधा श्रवणम दो प्रकार से उसने श्रवण किया आगे वाली बताने जा रहे हैं ऊहा ऊ का मतलब तर्क विचार करना आगम अविरोधी न्याय न मान वेद विरोधी न्याय नहीं होना चाहिए बिना विरोधी अनुमान के द्वारा न्यायन अर्थ परीक्षणम शास्त्रों के अर्थ का परीक्षण करना यही तर्क है परीक्षणम परीक्षण क्या चीज होता संशय पूर्व पक्ष निराकरण उत्तर पक्ष स्थापनम परीक्षणम परीक्षण क्या संशय रूप जो पूर्व पक्ष को हटा करके अपने उत्तर पक्ष की स्थापना करना इसी का नाम है परीक्षण इसी को बोलते हैं मनन भी कहते हैं इसी का नाम क्या है मनन तदिदम मननम आचक्षते आगमिना इसको ही वेदांत वाले क्या कहते हैं मनन क्या कहते हैं मनन मन इतर भेदान मिति स्रोतव्यम मंतव्य में यही होता है इतर भेदान मिति ही मैं सबसे भिन्न हूँ तो मनन करेगा आचक्षते आगमिना आगमिक माने आगम शास्त्र सात तृतीया सिद्धि तार तारम क्योंकि इसने मनन कर लिया है इसलिए और बड़ी शुद्धि हो गई मनन रूपम अब बताने जा रहे हैं मनन के बाद सुरत प्राप्ति अच्छे व्यक्ति का प्राप्त हो जाना सुहृद प्राप्ति माने अच्छे व्यक्ति की प्राप्ति सोत प्रेक्षितम मननम में असुहृत सम्मतम द्वितीय मननम आहा अपने से स्वयं उत्प्रेक्षित किसी गुरु से नहीं पढ़ा अध्ययन नहीं किया अपने से मनन करना शुरू कर दिया वो क्या है वही का उत्प्रेक्षितम मननम में वो मनन मनन नहीं अब तो क्या है अमन इसलिए अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए इसलिए लिखा साथ का सोत प्रेक्षितम अपने आप कल्पना करके मननम अमननमेव वो मनन नहीं अमन भी है अतः अमनन अतः असुहित सम्मतम वो असुहित जनों से सम्मत असम्मत है असहृत सम्मत मन सुहृत सम्मत नहीं माना सुधी जन उसको मानते नहीं है द्वितीय मननम आहा सुरत प्राप्ति इसलिए अच्छा जो चिंतन किया फिर कोई सुरत उसमें प्रामाणिकता कर दे तब यह हो गया हमारी कौन सी सिद्धि सुरत प्राप्ति नाम की शुद्धि हो गई कौन हो गई सुरत प्राप्ति कितनी हो गई एक दो तीन चौथा नंबर की सुरित प्राप्ति ही अब लिखने जा रहा है सुहृत प्राप्ति न्याय ने स्वयं परीक्षा परीक्षितम अपनी अर्थम न श्रद्धते माने यद्यपि यह श्रुत प्राप्ति न बताने जा रहा क्या चीज है कि स्वयं परीक्षितम अर्थमपि माने अपने द्वारा परीक्षित किया जो अर्थ है उसमें आदमी को श्रद्धा नहीं होती विश्वास नहीं होता कि हमने जो चिंतन किया गलत है कि सही है किसी न किसी की एक प्रमाणिकता की आवश्यकता है वही सुंदर कह रहे हैं सुहृत प्राप्ति क्या है इसका मतलब स्वयं परीक्षितम अर्थम न श्रद्धते न यावत गुरु शिष्य ब्रह्मचारी भी सा जब तक यावत जब तक गुरु अथवा कोई गुरु शिष्य मतलब गुरु शिष्य के बीच में विचार नहीं होगा सहपाठी जो ब्रह्मचारी हैं उनके साथ वह विचार करेगा तब होगा कि कुछ हमारा ठीक है वही कह यही हुआ सुरत प्राप्ति ना यावत गुरु शिष्य ब्रह्म सब्रह्मचार भी सा संवाद जब तक अपने गुरु के साथ अथवा अपने शिष्यों के साथ अथवा अपने सहपाठी ब्रह्मचारियों के साथ उसके विषय में संवाद नहीं करता है तब तक वह अपना चिंतन प्रामाणिक नहीं कहलाता है इसलिए ऐसे गुरु को मिलना शिष्य मिलना और ब्रह्मचारी का मिलना इसी का नाम हो गया सुहृद प्राप्ति कितना सुंदर सुहृदाम गुरु शिष्य सब ब्रह्मचारी नाम कितना सुंदर लिखना है गुरु शिष्य ब्रह्मचारी इनका नाम हुआ सुहृद इनकी संवाद का नाम प्राप्ति सुहृद प्राप्ति ही या सिद्धि चतुर्थी रम्य का बड़ी सुंदर सिद्धि है हमने विचार करके उसको चुना है ये प्राप्त होना भी एक क्या है सिद्धि है दान शुद्धिर विवेक ज्ञान से दान क्या है शुद्धि विवेक ज्ञान के लिए आवश्यक है कैसे तो यहाँ दान का अर्थ वो नहीं है सत्व पूर्वक परसुत्व उत्पादन रुपया पैसा देना यहाँ दान के अर्थ करने जा रहे हैं दान का अर्थ शोधन दैव धातु से दान बनाए दैव शोधन व्याकरण का है पहले दानंज शुद्धिर विवेक ज्ञान से विवेक ज्ञान की जो शुद्धि है वह है दान दान माने शोधन धातु और दान पद विपत्ति इस धातु से दैव शोधने से यहाँ दान शब्द बना है दा आदाने ये धातु से दान नहीं बना यथा कितने सुंदर लिख रहे हैं भगवान पतंजलि माने पतंजलि माने योग सूत्रकार विवेकाख्याति अविप्लव हानुपाया संसार के त्याग का उपाय क्या है विवेकाख्याति है क्या है विवेकाख्याति है यही हान का मन संसार के त्यागने का उपाय है इसमें विप्लव नहीं होता अविप्लवा अपिप्लवा माने शुद्धि माने विवेकाख्याति वही शुद्ध है वही संसार को छुड़वा सकती साचा वासना संशय विपर्यासा वासना के सहित संशय को विपर्यमन मिथ्या ज्ञान को परिहार करा करके विवेक साक्षात्कार स्वच्छ प्रवाही अवस्थान मन विवेक साक्षात्कार है वो लगातार एक जैसा हो जाएगा ऐसा स्थिति कराती है अवस्थान सा न बिना बिना दर निरंतर क्या लिखा है ना चा लिखा है साचा ना विनोद लिखा क्या लिखा हाँ बिना दर निरंतर के दीर्घ काल सेविताभ्यास परिपाकात भवती माने इसके बिना वो सिद्धि नहीं हो सकती किसके बिना निरंतर लगातार दीर्घ काल पर्यंत सेवित अभ्यास परिपार के परिपाक के से होती है उसके बिना न संभव अन्वय करना माने आदर निरंतर बिना क्या आदर सत्कार पूर्वक निरंतर दीर्घ काल सेवित अभ्यास के परिपाक के बिना सा न भवती नहीं होती है न तो संग्रहिता दान के द्वारा ये सब ले लेना है नहीं आदर नैरन दीर्घ काल सेवित परिपाक सब लेना है सायम पंचमी सिद्धि सदा मुदितम उच्चते या प्रसन्नता रहने वाली है इसमें तीन मुख्य हैं कौन कौन अंतिम वाली कौन कौन लिख रहा तीन मुख्य हैं प्रमोद मुदित मोद माना हाँ, तीसरा मुख्या सिद्ध्या कौन कौन प्रमोद मुदित मोद माना इति अष्ट सिद्ध्या ए समय तैतरी में आता ए समोदा ए सब प्रमोदा श्रुति में आता है तो उनमें थोड़ा थोड़ा भगवत पाप भेद दिए कि मोद क्या चीज है प्रमोद क्या चीज है मोद मान क्या चीज है सब में भेद है तीसरा मुख्या सिद्धया प्रमोद मुदित मोद माना ये तीन इनमें आठ में मुख्य हैं इस प्रकार आठ सिद्धि बताई अन्य कुछ लोग इसके इस प्रकार से व्याख्या इन्होंने अपना व्याख्या कर दिया वाचस्पति मिश्र ने कुछ लोग इसको इस प्रकार से व्याख्या करते हैं इस कारिका की कैसे अन्य आचार एवं व्याचक्षते व्याचष्टे व्याचक्षाते हम्म, हम्म। बड़े व्याकरण लोग बैठे इनसे थोड़ा पूछ रहे व्याचक्षते अन्य लोग इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं बहुवचन में बिना उपदेशादिना बिना गुरु के उपदेश के बगैर ही प्राग भावी अभ्यास वसा तत्व स्वयं ऊहनम यथ सा सिद्धि ऊहा माने गुरु को उपदेश के बिना ही जन्मांतर संस्कार से ही प्राग भावी अभ्यास बसात पहले के जन्मांतर के अभ्यास के बसात तत्व का स्वयं चिंतन करने लगना ये कौन से सिद्धि हुई उहा नाम की सिद्धि या सिद्धि सा उहा यश सांख्य शास्त्र पाठम अन्यदि आकरणियम ज्ञानम उत्पत्ति संग सांग साथ को नहीं पढ़ा है अन्य शास्त्रों को पढ़ करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस सिद्धि का नाम है शब्द सिद्धि क्या हो गई है शब्द सिद्धि ये दूसरे जो व्याख्या करते हैं यश सांग साथ पाठम अन्यदीयम आकरणीय सांग शास्त्र का जो पाठ दूसरे से सुन करके पाठम अन्यदीयम आक्रमण सुन करके ज्ञानम उत्पद्यते उसका नाम क्या है शब्द सिद्धि शब्द पाठांतर भावा दूसरे यहाँ कहीं लिखा है शब्द कहीं लिखा है शब्द पाठ एक भावा यश शिष्याचार न सम्मान गुरु और शिष्य के माध्यम से संवाद के द्वारा जो सांग शास्त्र का अध्ययन करता है सांग शास्त्र ग्रंथ तो अर्थतश्यादि दोनों पुस्तक भी पढ़ा है उसका अर्थ भी जान लिया अधित ज्ञानम उत्पद्यते सा अध्ययन हेतु का सिद्धि अध्ययन सिद्धि वो तो अध्ययन हेतु की सिद्धि क्या हुई अध्ययन सिद्धि जो गुरु शिष्य के माध्यम से सांग सास को पढ़ा ये कौन सी सिद्धि हो गई अध्ययन सिद्धि हो गई सुरत प्राप्ति क्या यश अधिगत तत्व सुरदम प्राप्त ज्ञानम उत्पद्यते जो हमको जान गए हैं अधिगत तत्व सुरदम जिसको आत्मबोध हो चुका है ऐसे सुहृद को प्राप्त करके जिस व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता है वह सिद्धि हो गई सुहृत प्राप्ति ज्ञान लक्षणा सिद्धि तस्य सुहृत प्राप्ति दान क्या चीज है कर रुपया पैसा देने से क्या होता आदमी को ज्ञान निर्मल अंताकरण होता वही करने दान च सिद्ध हेतु धनादि दान वही दान अर्थ का जो मुख्य जो लोग प्रसिद्ध है कि धनादि देने से क्या होता दाने न आराधितो ज्ञानी ज्ञानी को पैसा रुपया करके प्रसन्न किया ऐसे रख दिया हाथ मुक्त हो गए क्या हो गए मुक्त हो गए ऐसी स्थिति का नाम क्या है पता नहीं दान सिद्धि कौन सिद्धि है दान माने प्रसन्नता होकर के नहीं कितने दान दाता है महापुरुषों के पास घर दुकान बनवा दिए प्रसन्न हो गए चलो तुम्हारा ऐसा कर दिया दान के माध्यम से वही यहाँ लिख रहे हैं सिद्ध हेतु दान आदि दाने न आराधिता ज्ञानी ज्ञानम प्रयक्षति अस्त चा युक्ता युक्ते सूर्यभिरेव अवगंतव्य का ये कौन गलत है कौन सही है इस प्रकार का जो युक्ता युक्त है रेव जो हमने सब विचार किया बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा इसको युक्ता युक्त तो अवगंतव्य कृत पर भाव ने न सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्ता नाम जिनका का पर दोष की उद्भावना मात्र में यह सिद्धांत व्याख्यान प्रवृत्ता नाम जो ये जो ये जो सिद्धांत देखिए हम कह रहे हैं इसको आप लोग स्वयं विचार करिए ये सिद्धांत को व्याख्या करने वाले हैं तो इन्होंने क्या कह दिया कि अपने जो सांग साध का पढ़े सांग साधका यही तो लिखा है इन्होंने इसलिए कह रहा है इसका जो गलत है ये सही है ये आप लोग विचार करिए मैंने मत लिख दिया है वाचस्पति मिश्र जी ने आप लोग विचार करिए कि युक्त है कि अयुक्त है सूर्य भीरे अवगंतव्य है इति कृत पर दोषोद भावन दूसरे को दोष भावन नियम कर रहे हैं सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्ता नाम अस्माकम हम तो केवल सिद्धांत व्याख्या के लिए प्रवृत्त हैं क्या करने के लिए प्रवृत्त हैं सिद्धांत की हमको व्याख्या करने वो गलत है कि सही है आप लोग विचार करिए मैंने जिस पुस्तक का जो सिद्धांत मैं वो लिख रहा हूँ ये गलत है कि सही इस पर मुझे नहीं लगा जैसा हो या युक्तायुक्त विचार किनको करना है विद्वान लोगों की ये सांग साथ सही है कि गलत है मैं किस लिए प्रवृत्त हूँ केवल सिद्ध इसलिए इनको कहा जाता है कि इस निर्लेप होते हैं जिस सिद्धांत को लिखते हैं उसी की बात करते हैं वो गलत है इसे इससे मतलब नहीं है जो वो लोग मानते हैं वही बात करते हैं अपने तरफ से उसमें कुछ अभिनिवेश नहीं जोड़ते वाचस्पति मिश्र इसलिए इनको सबसे बड़ा तटस्थ व्यक्ति कहलाता है तो ये तो आदमी कहीं ना कहीं अपने सिद्धांत की भावना उसमें घुस जाती जो आग्रह होता है ये लिखा सिद्धांत व्याख्या प्रवत्ता नाम अस्माकम पर दोष कृतेन किम हम दूसरे का दोष उद्भावन नहीं करना चाह रहे हैं केवल हम युक्तायुक्त विचार के लिए इतना मत यहाँ लिख दिए अतः सिद्ध तुष्टि विपर्य अशक्तिर बुद्धि बधा सप्त दस दस इष्टव्या इनका सिद्धि तुष्टियों के विपर्य के द्वारा अशक्ति एक बद हुआ जो बुद्धि का बद है शक्ति वह कितना है सप्त दस एष्टभ्य कितने अठारह हो गई सत हो गई को और दस ये हो गई क्या हो गई सत्रह सप्त दस अधा एष्टभ्य मैंने सत्रह होती है अत्र प्रत्यय सर्गे सिद्धिर उपाधि इति प्रसिद्धम माने जा जो प्रत्यय माने बुद्धि जो सर्ग है प्रत्यय सर्ग माने बुद्धि का सर्ग और बुद्धि का सर्ग बताया तो वही धर्म आधर्म ये सब बुद्धि के सर्ग के अंतर्गत है माने वही प्रत्यय महाद का जो सर्ग तन मात्रा आकाश पर्यंत ये प्रत्यय सर्ग था यह सिद्धि या इनकी सिद्धि ग्रहण करना इति प्रसिद्धम लोके उपाधि लेना तन निराकरण हेतवा उनको हटाना है कोई इसी चक्कर में न पड़ जाए तन निवारण हेतवस्तु विपर्यासक्ति तुष्टया हे आहा इसलिए इनको विपर्य से जाने वाले अशक्ति जो सृष्टि इनको छोड़ देना है या माने त्याज्या इत्यता सिद्धो पूर्वो अक्ले शस्त्र विधा माने जो सिद्धि के पूर्व में लिखा ना सिद्धो पूर्वो अंकुशस्त्र विधा लिखा ना उस पर विचार करने जा रहे हैं तीन कौन कौन हुआ विपर्या शक्ति ये तुष्टि ये पूर्व लेनी है वह पहले होंगी उसके बाद तीन आएगी आगे वाली ये विपर्या शक्ति तुष्टि परामृशति ता सिद्धि सिद्धि किरणी नामं नामंकुशो निवारकत्वा सिद्धि जैसे किरणी होता है ना हाथी हाथी क्या करता है अंकुश को के द्वारा हटाया जाता है इसलिए कहने जा रहे हैं ये तीन जो सिद्धियां हैं विपर्या शक्ति जो तुष्टि है इनको पहले लेना ये अंकुश का काम करती हैं ये हो जाए कोई से एक किरणी को क्या करता है अंकुश उस हाथी को जोड़ देता है वैसे कहने जाए निवारक अतः सिद्धि परपंथित्वात अंकुश ये सिद्धि के सब परपंथी है कौन विपर्य अशक्ति और तुष्टि तुष्टि तो कुछ कर नहीं सकता है विपर्य हो जाएगा कुछ नहीं आ सकते कुछ नहीं कर सकता है इसलिए अंकुर की तरह है माने साधक को अच्छे मार्ग में रोकने वाली हैं इनको छोड़ना है कौन सी तुष्टि छोड़ना है विपर्य अशक्ति तुष्टया ही और ये तुष्टि को छोड़ना है और आगे वाले को ग्रहण करना है ये अंतर है क्या है सिद्धि परिपंथित्वात अंकुशित पूर्वा विपर्या तुष्टया हे आहा इसलिए सिद्धि पूर्व अंकुशस्त्र विदा तीन अंकुश वाली हैं इन तीन सिद्धियों को छोड़ना है कितनी सिद्धि को छोड़ना है नौ अष्ट सिद्धि में तीन सिद्धि को छोड़ देना कौन विपर्या शक्ति और तुष्टि को छोड़ देना बचा कौन सा जो विपर्या शक्ति तुष्टि से अतिरिक्त है मन उवा शब्द जन ये तो आवश्यक ही है इसलिए इसको नहीं छोड़ना है बस तीन को छोड़ना और निकाल इति यहीं तक रखते कौन